परम पिता परमात्मा का स्मरण न्यायकारी परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा को और अधिक अच्छी तरह मानने और स्वीकारने के लिए हम परमात्मा को विभिन्न विशेषणों से संबोधनों से संबोधित करते हैं उन संबोधनों में परमात्मा के गुण छुपे होते हैं महर्षि दयानंद ने आर्य के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र के व्याख्यान में परमात्मा को बहुत सारे संबोधनों से संबोधित किया है उन संबोधनों में से एक संबोधन हे न्यायकारिन इस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं परमात्मा को जब हम न्यायकारी कहते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है तो हमारे ऊपर उसका प्रथम प्रभाव मुख्य प्रभाव ये रहता है कि मैं ठीक कर्मों को करूं अच्छे कर्मों को करूं बुरे कर्मों को न करूं क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है अर्थात परमात्मा की न्यायकारिता को समक्ष रखते हुए हम अपने नए कर्मों पर अधिक केंद्रित होते हैं ये एक इसका महत्वपूर्ण भाग है और इसका दूसरा भाग है कि परमात्मा चूंकि न्यायकारी है इसलिए उसने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मेरे कर्मों के अनुसार दिया है और हम उसमें संतुष्ट रहें परमात्मा ने जितना दिया है जिस परिवार में मुझे जन्म दिया है जैसा शरीर दिया है जैसी बुद्धि दी है जैसे अन्य साधन दिए हैं वो सब चीजें जो परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा की व्यवस्था से हमें मिली है वो सब मेरे कर्मों के अनुरूप हैं ईश्वर की न्यायकारिता को दोनों पक्षों में हमें ध्यान में रखना होता है तो दूसरा पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है नए कर्म तो परमात्मा की न्यायकारिता को ध्यान में रखते हुए हमें करने ही हैं इस दूसरे पक्ष को भी हम बहुत कुछ मन में रखते हैं लेकिन वो सब होते हुए भी हमें ये देखना होगा कि हम परमात्मा को पूरी तरह न्यायकारी स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं एक सीमा पर कोई व्यक्ति अपने को मिलने वाले समस्त सुख और दुखों को अपने ही कर्मों का फल मानता है ईश्वर न्यायकारी है इसलिए मुझे जो भी सुख दुख मिलेंगे वो ईश्वर के न्याय के अनुसार ही मिलेंगे ये फल के संदर्भ में व्यक्ति ही ईश्वर को न्यायकारी स्वीकारता है लेकिन एक अति में जाकर के वो क्या मान बैठता है कि जितना भी सुख मुझे अभी मिल रहा है जितने भी साधन मेरे पास में हैं वे सब मेरे पुण्य कर्मों के कारण से हैं भले ही उसने अन्याय पूर्वक वो धन कमाया हो अधर्म से कमाया हो उस धन संपत्ति को देख करके भी वो ये विचार करने लगता है कि मेरे पुण्य थे तभी तो मुझे ये मिला है और अन्य भी यही सोचने लगते हैं जो अन्यायकारी अधार्मिक व्यक्ति गलत तरीकों से बहुत संपन्नता पा लेते हैं उनको देख करके जन सामान्य में यही बात आती है इनके पुण्य है इसलिए ये इतने संपन्न है संपन्नता पिछले पुण्य के कारण भी होती है ऐसे परिवार में जन्म मिलना जो संपन्न है संपन्नता इस जन्म के पुरुषार्थ से भी होती है जिसके साथ ईश्वर का सीधा लेन देन नहीं है वो मेहनत कर रहा है और धन यहां प्राप्त कर रहा है पिछले पुण्य के अनुसार उसको अच्छा शरीर अच्छी बुद्धि मिल गई बस इतना तो उसमें सहयोग है और वो उस बुद्धि और शरीर का उपयोग करके अधिक धन कमा रहा है लेकिन पुरुषार्थ कर रहा है इसी तरह से प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग करके कोई बहुत धन कमा सकता है तो ईश्वर न्यायकारी है हमें जो मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है परमात्मा की तरफ से जो हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है वहां पूरी तरह ये ठीक है लेकिन हमें जो मिल रहा है जो हमारे पास में है वो धर्म पूर्वक भी होता है और अधर्म पूर्वक भी होता है इसलिए ईश्वर को न्यायकारी समझते हुए फल के संदर्भ में हमें ये विवेक तो रखना होगा मेरे को या अन्यों को जो चीजें मिली हैं उन सब के पीछे ईश्वर की न्यायकारिता न जोड़ी जाए दूसरा दुख के संदर्भ में एक वर्ग है जो ईश्वर की न्यायकारिता को स्वीकार करके बड़े संतोष में रहता है कि हमें जो कुछ भी दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है उनको ये बताया गया उनके मन में बुद्धि में ये डाल दिया गया जो अन्याय करते थे उन लोगों ने भी इस ढंग से डाल दिया ईश्वर का सहारा लेकर के ईश्वर का दुरुपयोग करके ये जो आपकी स्थिति है ये आपके कर्मों के कारण से अपने अन्याय को अत्याचार को सामाजिक अव्यवस्था को छुपाने के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसका सिद्धांत का दुरुपयोग किया गया और ये इतना प्रचारित हो चुका है लोगों के मन में इतना बैठ चुका है कि वो यही मानते रहते हैं ईश्वर को न्यायकारी समझते समय अन्याय को भी ईश्वर के द्वारा किया गया ईश्वर की व्यवस्था से होने वाला समझना अशुद्ध रूप है परमात्मा को ठीक नहीं मानना है अगर यूं मानने लगेंगे तो जितने भी अन्याय अत्याचार होते हैं अपराध होते हैं उसमें कोई ना कोई तो पीड़ित होता ही है और कोई ना कोई उसका लाभ उठाता है वो सब उनके कर्मों के अनुसार माना जाएगा तो ऐसे ईश्वर को कोई कैसे स्वीकार करेगा बहुत से व्यक्ति ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि ईश्वर के मानने वाले ये बोलते हैं जो कुछ मिल रहा है जो कुछ स्थिति है वो आपके अपने कर्मों के अनुसार है ईश्वर ने ऐसा ही बनाया आपके लिए जो कि अनुचित बात है अब कोई समझदार व्यक्ति ऐसे ईश्वर को कैसे मानेगा वो ये कहेगा नहीं मैं नहीं मान सकता वो ईश्वर को ही नकार देते हैं वो नास्तिक बन जाते हैं उनके द्वारा खड़ा किया गया प्रश्न उनके द्वारा दिखाई गई आपत्ति बिल्कुल ठीक है वो आंखें बंद करके नहीं स्वीकार कर रहे कोई बात सोच रहे हैं ये दोष उन आस्तिकों का है जिन्होंने ईश्वर को इस ढंग से प्रस्तुत किया जो इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो ईश्वर न्यायकारी है इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे को जितना भी सुख और सुख के साधन मिल रहे हैं मिलेंगे जितने दुख या दुख के कारण हमारे लिए उपस्थित हैं वो सब और जो आगे आएंगे वो हमारे ही अपने कर्मों का फल है इस विचारधारा ने समाज में अन्याय को बहुत प्रश्रय दिया है अन्याय को बहुत बढ़ाया है जबकि ऊपर से स्वरूप यह है कि ईश्वर न्यायकारी है हमें भी न्यायकारी बनना है स्वरूप न्यायकारी का लेकिन अन्याय बन चुका और जब कोई व्यक्ति ये मान लेगा कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होना है होगा हो सकता है वो सब हमारे कर्मों का फल है तो चोरी करने से क्यों रुकेगा छल कपट से दूसरे का धन छीनने से क्यों रुकेगा वो ये सोचेगा कि मैं को जो करना है मैं करूं अगर मेरे भाग्य में नहीं है मेरे पुण्य नहीं है तो मैं चोरी करूंगा तो भी मेरे को धन नहीं मिलेगा मैं कम तोलूंगा तो भी मेरा लाभ नहीं होगा लेकिन मेरे को प्रयोग करने में क्या आपत्ति है मैं कम तोल सकता हूं मैं झूठ बोल सकता हूं सामर्थ्य दी है परमात्मा ने चोरी कर सकता हूं और अगर ऐसा करने पे उसको धन आ रहा है उस धन का वो उपयोग कर रहा है उपभोग कर रहा है सुख सुविधाओं को पा रहा है जीवन उसका सरल हो रहा है तो, तो यही सोचेगा मेरे पुण्य है ऐसे अब उसका अपराध बोध तो कैसे हो उसने गलत किया है ये कहां से आएगा ये तो मेरे पुण्य का फल है जैसे और व्यक्ति अन्याय पूर्वक धन कमा रहे हैं उनके पुण्यों का कर्म है फल है तो ये मेरे भी पुण्य का फल है अगर न्याय को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो ये अन्याय को बढ़ाने वाला होता है इसने अन्याय को बढ़ाया इसलिए जिस समय हम ईश्वर को न्यायकारी संबोधित करते हैं तो उसके न्याय का शुद्ध स्वरूप हमारे मन में होना चाहिए नहीं तो ईश्वर को न्यायकारी बोलते हुए भी हम अधर्म में फंस जाएंगे फंसे रहेंगे हमें जो कुछ परमात्मा के द्वारा मिला है उन अंशों पर भी विचार करें जो हमने अन्याय पूर्वक लिया है या दूसरों ने दिया है उसको एक तरफ हटा भी दें तब भी एक लौकिक व्यक्ति में सांसारिक व्यक्ति में भी इस तरह के विचार आते हैं और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में भी जो जिस परिस्थिति में है उसमें उसे कुछ न कुछ न्यूनता तो दिखाई देती ही है उसे अपने से अधिक संपन्न सुविधा युक्त व्यक्ति दिखाई देते हैं अपने से अधिक यश पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं होते हैं ऐसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में उसे अपने से अधिक प्रगति वाले आध्यात्मिक व्यक्ति दिखाई देते हैं अधिक प्रयत्न करने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं और अपने लिए उसे अनुभूति होती है इतने वर्ष के बाद भी मैं नहीं कर पाया मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूं तो भी मुझे सफलता नहीं मिली ये कुछ वास्तविकताएं हैं होती हैं लेकिन इसके साथ में उसका एक सोच प्रारंभ होता है कि यदि मेरे पास में अच्छा शरीर होता मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता तो मैं ये और कर लेता मेरी आज स्थिति अच्छी होती यदि मेरे पास बुद्धि और अच्छी होती तो मैं और अच्छा होता दोनों पक्षों में देखिए सांसारिक और आध्यात्मिक मेरे पास यदि ये साधन और होते तो और अच्छा होता यदि मेरे माता पिता ये ना होते कोई और होते तो और अच्छा होता मेरे को ये परिवार ना मिलके ये दूसरा ऐसा परिवार मिला होता तो ज्यादा अच्छा होता मेरे को ये अध्यापक ये गुरुजन मिले होते अच्छे तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती ये एक सामान्य विश्लेषण व्यक्ति के मन में आएगा लेकिन इसके साथ दो तरह के भाव हो सकते एक भाव तो ये जिसमें दोष और शिकायत का भाव है कि ये तो हुआ ही नहीं ये होता तो ये होता ये चीज नहीं है इसलिए मैं प्रगति नहीं कर पा रहा हूं एक आरोप का भाव है एक शिकायत का भाव है मेरे माता पिता यदि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते तो आज मेरी कहीं और स्थिति होती जो मनुष्यकृत कर्म है वहां भी और जो ईश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था है वहां भी यदि मेरा जन्म इस देश में हो गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता हम शिकायत कर रहे हैं कुछ आरोप लगा रहे हैं एक सामान्य कथन भी होता है कि आज जितना मुझे मिला है ईश्वर के द्वारा या अन्यों के द्वारा उसके अनुरूप मैंने ये सब किया है अपना पुरुषार्थ मैंने पूरा किया है यदि पूरा किया है तो तो एक संतुष्टि का भाव कि मेरे लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता था ईश्वर के द्वारा क्योंकि मेरे कर्म ही इसी तरह के थे ये न तो किसी ग्लानी का भाव है न मिथ्या संतोष का भाव है एक सहजता से उस स्थिति को स्वीकार करना अनावरहित स्थिति में और एक इसी बात को आरोप आक्षेप के रूप में कहना शिकायत के रूप में कहना कि ये होता तो अच्छा रहता हमारा घर इस जगह होता तो ज्यादा अच्छा होता ये हुआ नहीं एक दोष देख रहा है व्यक्ति परिस्थिति ठीक है समान है और विश्लेषण भी किया जाएगा विचार आएंगे लेकिन हम उसे दोष के रूप में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम परमात्मा की न्यायकारिता को सहज स्वीकार नहीं कर रहे हैं परमात्मा के द्वारा जो जन्म जो माता पिता जो परिस्थिति मेरे को मिली है वो अच्छी से अच्छी मिली है मेरे कर्मों के अनुसार मिली है ये एक भाव और एक इसी में आक्षेप का भाव ये होता तो अच्छा रहता भी मेरे कर्म ही ऐसे नहीं थे तो मेरे को कैसे वो वैसा शरीर वैसी बुद्धि वैसा परिवार मिलता लेकिन वो कामना रखता है भविष्य के लिए कामना की जा सकती है उसमें दोष नहीं है कि मैं ऐसे अच्छे कर्म करूं कि आगे मेरे को ऐसा शरीर मिले ऐसी बुद्धि मिले ऐसे गुरुजन मिले ऐसे माता पिता मिले ऐसा स्थान मिले ऐसी योग्यताएं मिले ये की जा सकती हैं ये उचित है लेकिन इसी में दोष के रूप में देखना तो हम परोक्ष रूप से परमात्मा की न्यायकारिता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उस खेद में उस खिन्नता में अपना जीवन चलाते रहते हैं और जितना परमात्मा ने दिया है उसका भी ठीक उपयोग नहीं करते ये व्यापक रूप से सांसारिक व्यक्तियों में और आध्यात्मिक व्यक्तियों में देखा जाता है वो इसी सोच में पड़ा रहता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है मेरे को ये रोग है मेरी बुद्धि ये ठीक नहीं है मेरे को ये साधन ठीक नहीं मिले हैं मेरे पास ये कमी है इसलिए मैं साधना नहीं कर पा रहा हूं मेरा घर ऐसा है कि मेरे लिए अलग से कमरा नहीं है इसलिए मैं साधना नहीं कर पा रहा हूं एक ही कमरा है जिसमें सब रहते हैं इत्यादि बहुत सारी बातें मेरे को ये गुरु जी जल्दी मिल जाते तो अच्छा रहता अब देर से मिले मैं बड़ी देरी से आया इस मार्ग में बचपन से गुरुकुल में चला जाता तो बहुत प्रगति करता अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता जो भी है परमात्मा के द्वारा जो भी दिया गया है उसको ठीक स्वीकार कर लेना ये मेरे कर्मों का फल है लेकिन अन्यों के द्वारा जो अन्याय किया गया है उससे बाधा हुई है उसको इसमें नहीं जोड़ना है हाँ उसके लिए दूसरा भाव है अन्य व्यक्तियों ने अन्य व्यक्तियों ने जो मेरे साथ अन्याय किया है उसको स्वीकारते हुए मैंने अन्याय पूर्वक जो साधन जुटा लिए हैं उसको भी स्वीकारते हुए अब उसमें न्यायकारिता का भाव ये कि यदि दूसरों ने मेरे साथ अन्याय किया है कर रहे हैं और मैं उसका जितना प्रतिकार उचित ढंग से कर सकता हूं वो मैंने किया है उसके बाद भी वो लोग कर ही रहे हैं और मैं उनको रोक नहीं सकता तो ईश्वर का विश्वास रखना कि ये जो अन्याय हो रहा है इसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा पूरी तरह करेंगे दूसरों के द्वारा जो अन्याय हो रहा है बाधाएं खड़ी की जा रही हैं इससे मेरी प्रगति में वास्तव में अंततः बाधा नहीं आएगी अभी बाधा लग रही है लेकिन इसकी पूर्ति के रूप में परमात्मा मुझे वो शक्ति सामर्थ्य देगा ऐसी अनुकूलताएं पैदा करेगा जिससे मैं इस कमी को पूरा कर लूंगा प्रयत्न तो मुझे यहां भी करना है वर्तमान साधनों से मुझे प्रयत्न करके ही प्रगति करनी है बिना प्रयत्न के तो प्रगति नहीं होगी लेकिन आज जो बाधा हो गई है मैं प्रयत्न करते हुए भी उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा हूं तो परमात्मा आगे वो साधन और अनुकूलताएं देगा और वहां जब मैं प्रयत्न करूंगा तो शीघ्रता से आगे बढ़ जाऊंगा और ये क्षति की पूर्ति भली प्रकार से हो जाएगी ये भाव ये ईश्वर की न्यायकारिता को स्वीकार तो परमात्मा को जो हम पूरी तरह न्यायकारी स्वीकारते हैं तब जो संतोष का भाव निर्भयता का भाव अंदर आता है और रह सकता है कोई चिंता नहीं न भविष्य के लिए न वर्तमान के लिए व्यक्ति भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से दोनों तरीकों से बहुत अच्छी प्रगति करेगा ईश्वर को न्यायकारी न स्वीकार करना शुद्ध रूप से न्यायकारी न स्वीकार करना ये हमारे द्वारा अपनी उन्नति में पैदा की गई बाधा है स्वयं हमने बाधा पैदा की है हम स्वयं बाधा पैदा कर लेते हैं ईश्वर के स्वरूप को जितना शुद्ध रूप से हम जानेंगे उतना हमारा मार्ग सरल हो जाएगा प्रशस्त होगा सहज हो जाएगा और जितना जितना गलत ढंग से जानेंगे समझेंगे मानेंगे उतनी उतनी बाधा हम स्वयं खड़ी करते हैं अपने मार्ग में ईश्वर को न्यायकारी स्वीकारने में एक और बाधा प्राय मन में आ जाती है ईश्वर न्यायकारी है अब वितर्क खड़ा होता है कि यदि ईश्वर न्यायकारी है और वो न्याय हमारे हित के लिए कर रहा है हमारे सुधार के लिए कर रहा है तो परमात्मा को ये तो बताना चाहिए कि मेरे ये बुरे कर्म हैं जिसका फल ये मिला है मुझे ये मेरे पुण्य कर्म हैं जिसका फल मुझे ये मिला है यदि किसी का न्याय कर दिया जाए उसको दंड दे दिया जाए पुरस्कार दे दिया जाए लेकिन ये ना बताया जाए कि ये पुरस्कार आपको इस चीज के लिए दिया गया है आपके इस अच्छे कर्म के लिए ये अलंकार दिया गया है आपका सम्मान किया गया है आपके इस दोष के कारण से आपको ये दंड दिया गया है अब परमात्मा तो ये बताता नहीं है हमें पता नहीं लगता है अगर परमात्मा न्यायकारी है तो यह व्यवस्था होनी चाहिए उचित है आज के न्यायालयों में भी न्यायाधीश बिना आरोप बताए अपराधी को और दंड दे दे तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ तो जिस न्याय की आप बात करते हैं ये न्याय चल रहा है उसमें तो ऐसा ही हो रहा है तो हम कैसे माने कि ईश्वर न्यायकारी है और ऐसे ईश्वर को क्यों माने लौकिक दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से ये उचित है समाज में ऐसा होता है होगा समाज में ऐसा ही होना चाहिए लेकिन परमात्मा के संदर्भ में क्या यह संभव है और यदि ये संभव हो तो हमारी स्थिति क्या बनेगी ये हमारे लिए हितकर होगा या अहितकर होगा अब आज के न्यायालय में यदि कोई आरोप होता है तो उस फिर सिद्ध भी किया जाता है आपका ये दोष है इस दोष के साथ में वो दोष सिद्ध भी करना होता है तो क्या इसी तरह से न्यायालय बने रहे परमात्मा प्रमाण प्रस्तुत करे क्योंकि न्यायाधीश तो प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता न्यायाधीश को खुद गवाह नहीं बनता है गवाह कोई दूसरा होता है आज की व्यवस्था में लोक में यही व्यवस्था होगी तो फिर गवाहों की भी आवश्यकता होगी गवाह सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है ये भी देखा जाएगा हमारे इतने अधिक कर्म हैं इन सब के लिए अगर ये होने लगे तो हमें नए कर्म करने का अवसर ही नहीं मिलेगा हम इसी में ही पड़े रह जाएंगे एक कोई अपराध होता है उसके लिए महीनों लग जाते हैं निर्णय करने में गवाह आदि वे व्यवस्था जो आज चल रही है उसको परमात्मा पे लगाने लगे तो कितने अपराध पुलिस के पास जाते हैं और न्यायालय में जाते हैं होते तो बहुत हैं कुछ जाते हैं और उन कुछ के लिए भी इतनी बड़ी व्यवस्था करनी होती है और वहां भी वो अधूरे रहते हैं पड़े रहते हैं वर्षों तक छोटी छोटी चीजें और यदि हमारे सब कर्मों के लिए ये होने लगे तो नहीं हो सकता ये और हमें किसी ने बता दिया कि आपने ऐसा किया है इसलिए आपको ये दंड है इसलिए आपको ये पुरस्कार है क्या परमात्मा के कहने मात्र से हम स्वीकार कर लेंगे बहुत से ऐसे दोष हैं जो हम दोष मानते ही नहीं है रात दिन का हमारा व्यवहार है हम दूसरे को कहते हैं आपने ये गलत काम किया बोले नहीं मैं तो इसे गलत नहीं समझता हूं ये गलत नहीं है आप ऐसा सोचते हैं कैसे ये सिद्ध तो होगा कि ये गलत है और ये सही है हम यदि परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान न्यायकारी स्वीकार करते हैं कि उसने कहा कम से कम उसको बताना तो चाहिए तो जिसे इस बात में संदेह है कि परमात्मा जो दे रहा है वो न्याय करके दे रहा है इसमें भी जिसे संदेह है वो इसमें भी संदेह कर सकता है परमात्मा बताए ये इस कर्म के कारण आपको ये हुआ इस कर्म के कारण ये हुआ वो उस पर विश्वास करे आवश्यक नहीं है क्यों विश्वास करे वो उस परमात्मा पे गलत भी तो हो सकता है जैसे लोक में न्यायाधीश गलत हो सकता है और यदि परमात्मा बताए भी और किसी व्यक्ति को विश्वास भी हो कि नहीं परमात्मा बता रहा है ये ठीक ही दोष बता रहा है ठीक ही मेरा पुण्य बता रहा है उन सब चीजों को सुन करके हम वर्तमान में कितने विचलित हो सकते हैं मैंने ये किया आज हम किसी अच्छी स्थिति में हैं जिस भी स्थिति में हैं या बुरी स्थिति में हैं जब हमारी पिछले कर्म या स्थिति बताई जाए आपने इस स्थिति में ये किया आपने ये किया आपने ये किया यदि आज अच्छी स्थिति है विचलित हो जाएगा और यदि आज निम्न स्थिति है और पहले के कि आप ये थे ये थे ये थे आपने इतने अच्छे कर्म किए थे तो भी विचलित हो जाएगा वो क्या हो गया आज में जो हमारी कर्म की स्वतंत्रता है कि हम आज अच्छा करें पिछली बातों को भुलाते हुए मात्र इतना संकेत रखते हुए कि कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं बस इतना हमें बोध हो जाता है इतना पर्याप्त है लेकिन वो सारी प्रक्रिया अगर हमको बताई जाए आपने ये ये किया था या ये किया था उसको सुनने में जानने में ही हमारा समय चला जाएगा ये जीवन नहीं चल सकता और ये प्रश्न हम अपने लिए पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया अच्छा या बुरा तो अगला बात ये भी आएगी कि मैंने ये किया परमात्मा ने बता दिया आपको ये फल मिला तो मनुष्य में सहज स्वभाव से जिज्ञासा होगी कि अच्छा दूसरों को ये मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है उसको भी जानना चाहेगा और फिर तुलना भी करेगा कि परमात्मा ने इसने ये किया था तो इसको ये फल दिया मैंने ये किया था तो मेरे को ये दिए वो तुलना में लगेगा कर्म नए कैसे करेगा ये जीवन चल नहीं सकता यदि परमात्मा सब बता दे तो जीवन नहीं चल सकता आज जितने हम शांत हैं जितनी तत्परता से स्वतंत्रता से कर्म कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था का एक तरीका है ये परमात्मा का दोष नहीं है कि वो बता नहीं रहा है आपने ये पाप कर्म किया और उसका दंड ये है समझदार के लिए संकेत पर्याप्त है इतना हम फिर भी समझ सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं चल रही हैं ये कर्मों के अनुसार चल रही हैं बुद्धिमान के लिए इतना पर्याप्त है तो ये ईश्वर की न्यायकारिता में दोष नहीं है लोक के स्तर पर ठीक है परमात्मा के स्तर पर यह संभव नहीं है क्योंकि यह हमारे लिए हितकर नहीं है इसलिए परमात्मा की न्यायकारिता जैसी है वो अपने आप में परिपूर्ण है उसमें अन्याय का कोई लेश नहीं है उसमें अज्ञानता का कोई लेश नहीं है इस रूप में परिपूर्णता से ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार यदि हम कर पाए विशुद्ध रूप से तो सब कुछ बहुत सरल है सब कुछ सहज स्वीकार्य है आशंका कुशंका तनाव चिंता भय बहुत कम हो जाएंगे और जितना अच्छा करेंगे वो लगभग समाप्त हो जाएंगे पूरे समाप्त हो जाएंगे हाँ सामान्य व्यक्ति कोई हमारे प्रति अन्याय कर सकता है उसकी आशंका रहेगी उसे उससे हमारी सुरक्षा हमें करनी है कोई जीव जंतु आ जाए उससे हमें सुरक्षा करनी है ये इतने प्राकृतिक जो सामान्य बाधाएं हैं वो तो होनी है उससे हमें सुरक्षा रखनी है जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें कोई विष ना आ जाए कोई गलत चीज ना आ जाए इन सब चीजों के लिए आशंका या संभावना या कोई भय वो भी भय नहीं बस सावधानी हमें रखनी है उनको तो करना ही होगा लेकिन इन सब चीजों को छोड़ करके बाकी जो भय आशंका चिंता हम अपने मन में डाल लेते हैं वो सब हट सकती है पूरी तरह हट सकती है तो ईश्वर को न्यायकारी मानना एक सबसे मुख्य गुण है ईश्वर के समस्त गुणों में हमारे से संबंधित जो गुण है वो न्यायकारिता है ईश्वर को न्यायकारी हम स्वीकार कर पाए और उस भाव को मन में रखते हुए अपने कर्मों को कर सकें उस भाव को मन में रखते हुए वर्तमान के भोगों को भोग सकें उपयोग कर सकें ये मन में रखते हुए ओम का उच्चारण ओ